ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर वैन में ग्यारह हजार नौ सौ पांच तहत और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफएम पर आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग तो सिर्फ उनकी आवाज आएगी राज कपूर के बारे में कुछ कहने के लिए राज साहब के साथ काम करने का ये मेरा पहला मौका था वैसे कलकत्ते में मिल भी चुकी थी अच्छा जी हाँ मगर उस वक्त मैं सिर्फ उनकी फैन थी हीरोइन नहीं और जब आप हीरोइन बनी तब आपको कैसा लगा तब मुझे महसूस हुआ कि राज साहब जितने बड़े कलाकार हैं उतने ही बड़े इंसान भी उनके साथ एक्टिंग करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला शुरू शुरू में मैं तो उनसे बहुत डरती थी अच्छा? और डर के मारे सेट के कोने में जाकर बैठ जाती थी मगर वो हमेशा मुझसे कहा करते थे अरे वो बंगाली रसगुल्ला चुपचाप कोने में बैठकर क्या देख रही हो पास आओ बात करो ताकि देखू तुम कैसा काम करती हो कैसा बोलती हो इस तरह धीरे धीरे मेरे दिल से डर जाता रहा हम्म। राज साहब ने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया नए कलाकारों को बढ़ावा देना मैंने राज साहब से ही सीखा है और माला सिन्हा को अपने रूबरू आकर और उनके नयनों में झांक कर सोचिए तो कि गीत माला की छाव में बैठे हुए मर्द क्या कह रहे होंगे फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको मैं कहा तक न निगाह को पलटने देती आपके देखा मुझको आपके दिल ने कई अपने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम रूह बेचैन है से के लिए तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम देखिए आपने फिर प्यार से दे मत होना मेरी दुनिया मोहब्बत है तुम्हारे दम से मेरी दुनिया मुहबत जुदा मत होना देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको बहनों भाइयों इस फिल्म के तो सभी गीत बड़े लाजवाब थे धुन के लिहाज से भी और बोल भी उनके गजब के थे साहब एक गीत तो ऐसा था जो हमें आजकल के बिगड़े हुए जमाने के लिए चेतावनी देता है आत्मा पे है खुदा और जमीन पे हम आत्मा पे है खुदा और जमीन पे हम आजकल वो इस तरफ देखता है कम आत्मा पे है खुदा धरती पे हम और ऐसे कलयुग में नए सवेरे की उम्मीद भरी किरणें फैलाने वाला भी एक गीत था उस फिल्म में वो सुबह कभी तो आएगी वो सुबह कभी तो आएगी हम्म। और जब तक वो सुबह नहीं आती बहनों भाइयों हम सब गुजरे हुए कल के उजालों को याद करके बस यही कहते रह जाएंगे अंकल आपने तो आज रुला दिया गीत माला की छाव में नहीं नहीं मेरी गीत माला रोना नहीं वो गीत याद करना तलत महमूद का गाया हुआ कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं और अगर वो गीत याद करके भी तुम्हारे आंसू नहीं रुकते ना तो शायद ये गीत सुनकर रुक जाए एक ही पल के उठा मेरी गम न कर दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे तब तलक तो की पल के उठा तो मिल ही रहेंगे गले जिंदगी है तो मिल ही रहेंगे गले जा रही है बहारे तो जान भी दे जा रही है बहारे तो जाने कर दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे तब तलक तो ये भी कर जाएंगे एक पल के उठा अमीन अंकल आप कहाँ कहाँ से ढूंढ कर ले आते हैं इतने अच्छे अच्छे भूले बिसरे गाने कुछ मेरी लाइब्रेरी में ही मिल जाते हैं मगर जब कभी गीतों की क्वालिटी कुछ कमजोर पड़ जाती है ना तो मैं सहारा लेता हूँ कलकत्ते के अनूप गडोडिया साहब का जो पुराने गीतों की क्वालिटी बहुत हद तक एकदम साफ और सुरीली बना देते हैं अपने दोस्त कमल बेरीवाला के साथ मिलकर बल्कि इस वॉल्यूम के करीब करीब सभी इच्छाओं वाले गीत मुझे अनूप गडोडिया ने ही भेजे हैं हाँ ए, एक दो गीत मुझे बम्बई के कुशल गोपाल का ने भी दिए हैं वेरी गुड अच्छा अब ये बताओ गीत मारा हम्म। वो कौन से बड़े ही मशहूर संगीतकार थे हमारी फिल्मी दुनिया में जो न सिर्फ तर्जे बनाते थे बल्कि कुछ फिल्मों में डायरेक्शन भी की थी उन्होंने और एक्टिंग भी की थी किशोर कुमार नहीं नहीं किशोर दास तो खैर थे मगर वो गाते भी तो थे और बड़े पॉपुलर एक्टर थे मैं जिक्र कर रहा हूँ एस एन त्रिपाठी का अरे त्रिपाठी जी एक्टर और डायरेक्टर भी थे हाँ हाँ और त्रिपाठी जी के संगीत में ढला हुआ एक बड़ा ही प्यारा महकता चहकता गीत भी हमने चुना है उन्नीस की गीतमाला की छाव से और बहनों भाइयों मजे की बात यह है कि उस फिल्म के डायरेक्टर भी एस एन त्रिपाठी ही थे जी हो जी हो प्यार तो है तलवार की धार की प्यार की मुश्किल है गलियां प्यार मेरा धा बावरी बन गई रटते रटते सावलिया पहली नहीं तो प्यार की जग में जीत नहीं तार बजे जब भी थे तब प्यार की बाजे पाय लिया प्यार करो प्यार करो रुत प्यार किया हम रुत कहती प्यार मेरा था बाबरी बन गई रटते रटते सावलिया और साहब ये गीत सुनते सुनते हम निकल आए हैं उस साल की गीत माला की छाव से बाहर अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए उन आठ गीतों की झलकें जिन्होंने उन्नीस में खूब धूम मचाकर लोकप्रियता की आठ सबसे ऊपर वाली पायदानों पर अड्डा जमाया था उन्नीस का गीत नंबर आठ फिल्म छोटी बहन और इसमें मर्दाना आवाज उस जमाने के एक नए प्लेबैक सिंगर की पहचानिए कौन मैं रंगीला प्यार का राही मेरी यानी मेरे शमी कपूर की फिल्म अरे वाह गीत माला जी बड़ा गजब का उम्र का रेंज है तुम्हारी पसंद का हाँ। यानी एक तरफ शाहरुख खान तो दूसरी तरफ शम्मी कपूर <laughs> अमीन अंकल हाँ। गीत माला के लिए उम्र कोई चीज नहीं होती हाँ। मुझ और आज दोनों समाये हुए हैं हाँ भाई ये भी तो है घूमता मौसम मस्त महीना चांदी गोरी एक हसीना आँख में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई कोई अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं उन्नीस की हिट पायदान नंबर छह पर था एक और गीत रानी रूपमती का जो आज भी हर प्रेमी गाता है अपनी महबूबा से बिछड़ने पर आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं मेरा सुना पड़ा रे संगीत मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं अमीना अंकल हम्म। क्या आप भी गाते हैं ऐसे गीत किसी के लिए हाँ भाई गीत वाला ऐसे गीत में तनाई में कभी कभी अपनी बीवी रमा के लिए मन ही मन गाता हूँ क्योंकि सन 2002 में वो मुझे और मेरे बेटे राजिल को छोड़कर हमेशा के लिए चल बसी और हम पे खुदी में तुम को पुकारे किए तुम्हें हम बन के दीवाना देखा किए तुम्हें हम बन के दीवाना उतरा जो नशा तो हमने ये जाना बड़ा ही भावुक हिट गीत नंबर पाँच आपने झलक के बजाय कुछ लंबा बजाया हाँ भाई गीत ही ऐसा था कि ज्यादा सुनने को जी चाह ज्यादा सुनने और इसके बाद बहनों और भाइयों बाकी बचती हैं बस उन्नीस की चार चोटी के गीतों की झलकें उस साल की गीतवाना वार्षिक संगीत श्रेणी की चौथी और तीसरी इन दोनों पायदानों पर उसी एक फिल्म के दो गीत थे जिसका नाम दोनों ही गीतों में आता है इसलिए मैं क्यों बोलूं आप ही नाम सुनिए इनके मुखड़ों में वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है वो चांद खिला समझे वो अनाड़ी है सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों से हम है अनाड़ी अच्छा तुम्हें तो पता है माता फिल्म अनाड़ी के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी जिनकी मधुर डायरेक्शन ने कई कलाकारों को स्टार बना दिया था आज एक छोटा सा हिस्सा ऋषिकेश मुखर्जी की आवाज में सुनो मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो ऐसी लगता है बेटी को शादी देने का बंदोबस्त कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ अच्छे घर में हो जाए उसको सिखाता हूँ अच्छी तरह बर्ताव करे ससुराल जाकर फिर शादी के बाद कुछ हाथ में नहीं रहता ना उस, उसकी किस्मत वो कैसे बिहेव करेगी उसके ऊपर डिपेंड करते ससुराल वाला कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करते ऐसे ही ऐसी है हम तो कोशिश करते जो शरीफ बने अच्छी बने सबको सुख दे बहनोर भाइयों ऐसे ही बड़े बड़े डायरेक्टरों संगीतकारों शायरों गायकों गायिकाओं और फिल्म स्टारों ने मिलकर हमारे लाजवाब फिल्मी गीतों के खजानों को ऐसा हमारा ऐसा सजाया कि फिल्म संगीत ही बन गया वो बंधन जिसने बरसों तक सारे एशिया के लोगों को प्रेम की माला पहनाई और बरसों तक करोड़ों संगीत प्रेमी एक होकर झूमते रहे सुरों के आशिकाना नशे में चूर मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना दोस्तों एक खास नशा इस वॉल्यूम में ये भी तो रहा कि आपकी अपनी गीतमाला साकार होकर चली आई आपसे मिलने मुस्कुराती हुई अठलाती हुई और कभी कभी जरा रूटती हुई तो वही गीतमाला तुम्हारा बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा देखा आपने बहनों और भाइयों ये कहकर अमीन अंकल मुझे फिर से तरी पार करने की चाल चल रहे हैं अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी गीत माला तुम कभी दूर हो सकती हो मुझसे अरे वो शेर तुमने नहीं सुना कौन सा कि दिल के आईने में फोटो गीत माला की है <laughs> अरे रे सीरियस होकर सुना हाँ दिल के आईने में फोटो गीत माला की है हम्म। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली मेरी फोटो ही देखेंगे या मुझे बुलाएंगे भी अरे ये तो तुम्हारा ही घर है गीत माला जब जी चाहे चली आना ठीक है अमीन अंकल मैं आऊंगी और आकर सभी संगीत प्रेमियों से वही कहूंगी जो 1959 की चोटी के पायदान नंबर एक पर चलती का नाम गाड़ी की मधुबाला ने किशोर कुमार से कहा था बाय हाँ। क्या ख्याल है आपका तुम तो मचल गए यूँ यूं ही पिसल गए आ आ आ हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका तुम तो मचल गए ओ, ओ, ओ। यूं ही पिसल गए आ आ आ उड़ रही थी उड़ रही टी उड़ड़े आइए बहनों और भाइयों गीत माने की छाव में 1960 यानी 1960 का फिल्म संगीत आपके इंतजार में आंखें बिछाए तैयार बैठा है और उसके साथ मैं आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी भी हाजिर हूँ मगर वही जरा गग घबराया हुआ अरे हटो का बनाव नहीं नहीं भाई मैं मैं सचमुच घबरा गया था 1960 के शानदार गीतों की लिस्ट देखकर क्योंकि उस साल मुझे छाव वाले जबरदस्त गीत भी तीस पैंतीस मिले और सालाना संगीत सीढ़ी पर भी कई गीत ऐसे मिले साहब जिनके सिर्फ मुखड़े मुखड़े बजाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए मैं घबरा गया कि भाई अब क्या होगा तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि 1960 के गीतों को दो नहीं बल्कि तीन वॉल्यूम्स में बांट देते हैं और इनमें संगीत सीढ़ी वाले कुछ लाजवाब गीत भी जरा थोड़े से ज्यादा लंबे बजाते हैं जैसे आहा उस साल का गीत नंबर बत्तीस फिल्म काला बाजार का अपनी तो हर आहा एक तूफान है अपनी तो हर आह एक तूफान है ऊपर वाला जान कर अनजान है अपनी तो हर आह एक तूफान है तो हंस के अपने भी किस्मत को चमका दे कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है ऊपर वाला जान कर अनजान है अपनी तो हर आह एक तूफान है बहनों भाइयों आपको शायद याद होगा कि फिल्म में देव आनंद असल में ये शिकायत कर रहे थे ऊपर वाले यानी भगवान खुदा गॉड से नहीं बल्कि रेल के डिब्बे की ऊपर वाली सीट पर चुपचाप लेटी हुई वहीदा रहमान से तो भाई उस सिचुएशन में तो वहीदा जी ने देव साहब को कोई लिफ्ट नहीं दी थी मगर यहाँ वो जरूर कुछ कहेंगी देवानंद के बारे में सुनिए देव मेरे सबसे पहले हीरो थे सबसे ज्यादा फिल्में मैंने देव साहब के साथ की क्योंकि वो क्या होता है जब पहली पिक्चर कोई भी एक टीम की कामयाब हो जाए तो वो उसको रिपीट करते रहते हैं उसी पेयर को तो इसलिए मैंने देव के साथ पिक्चरें की और उनके प्रोडक्शन की तीन फिल्में की मैंने तो हमारी अपनी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी मैं उनको छेड़ा करती थी कि आप तो बिल्कुल एवर रेडी हैं वो कभी थकते नहीं थे और हमेशा चलिए let's go let's go let's do जल्दी जल्दी हर चीज जल्दी और इतनी एनर्जी होती थी उनको मैं कहती थी देव आप कभी थकते ही नहीं तो नहीं और इसीलिए शायद वो इतने दुबले पतले कभी उनको प्रॉब्लम नहीं हुई कि वेट पुट ऑन करने का तो he was all the time on his toes Waheeda ji ने ये बात कही थी न्यू जर्सी यूएसए के एक बहुत मशहूर टीवी स्टेशन टीवी एशिया पर जिस पर मेरे पुराने साथी शिराज शरीफ हर हफ्ते में चार बार फिल्मों और फिल्मी संगीत का एक हिट प्रोग्राम पेश करते हैं जिसका नाम है अभी तो मैं जवान हूँ जिसके करीब चौदह सौ से भी ज्यादा एपिसोड्स 2009 में टेलीकास्ट हो चुके थे शिराज शरीफ ही ने वहीदा जी के इस इंटरव्यू का हिस्सा खास गीत वाला की छाओं के लिए भेजा है thank you very much Shiraz खैर बैरो भाई अब आप जरा बन जाइए दिल के डॉक्टर और 1960 के हिट पायदान नंबर 31 के गीत में कीजिए इलाज छलिया के दिल का मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है और अरे बाप रे उस साल नंबर तीस पर भी एक दिल ही था मगर जरा नेगेटिव टाइप का काला बड़े हाँ हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजकल तो दुनिया में इतनी खींचातानी मारामारी चल रही है कि अच्छे खासे साफ दिल के लोग भी काले दिल वाले बनने पर मजबूर होने लगे हैं <laughs> खैर बहनों भाई मैं भी कहा फिलोसफी की पब्लिसिटी में बैठ गया चलिए आप ये बताइए कि जो गीत आपने अभी भी सुना था ना उसकी फिल्म का नाम क्या था जी हाँ दिल दे के देखो जिससे कई लोगों की किस्मतें चमकना शुरू हो गई थी जिनमें से एक से आप अभी कुछ देर में मिलेंगे कुछ देर में